जिसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी उसी ने तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए उस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो